प्रणवतनी जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है आर्य समाज वैदिक धर्म जिस बात पर गर्व करता है वो बात है उनके पास जो आचार्य पाणिनि जी का व्याकरण अन्य ऋषियों के दर्शन उपनिषद व ईश्वरकृत वेद अगर कुछ गलत हो तो संशोधन का स्वागत है ठीक है आर्य समाज इस पे गर्व कर सकता है लेकिन ये केवल आर्य समाज के पास है ऐसा नहीं क्या ये प्रत्येक वैदिक धर्मी की संपत्ति है आर्य समाज की नहीं आर्य समाज भी वेद को मानता है जो जो भी वेद को मानते हैं उन सबको इस पर गर्व करना चाहिए गर्व कर सकते हैं अजमेर ऋषि उद्यान में ऋषि मेले पर एक बार महावीर जी मीमांसक बोल रहे थे पाणिनि के बारे में उन्होंने चर्चा की उन्होंने चर्चा की वो किसी सम्मेलन में पाकिस्तान गए थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों गर्व करो पाणिनी पर ये आपके पूर्वज थे आपको उन पर गर्व होना चाहिए ये कोई संप्रदाय से बटा हुआ नहीं है कि पाणिनी या संस्कृत का व्याकरण वो इस धरती पे पैदा हुए थे आपकी आज जो पाकिस्तान है वहां के थे पाणिनी ऐसा जैसा इतिहासकार मानते हैं जितना गर्व हमारे को है भारतीयों को आप भी उतना गर्व कर सकते हो पाणिनी के मुस्लिम भी कर सकते हैं वंशज वही चले आ रहे हैं आज किस मत मान्यता को मानने वाले हैं वो एक अलग बात है लेकिन वो उस देश का है तो वो उनको ऐसा बोले थे ऐसा बता रहे थे ऋषि मेले पर तो ये पाणिनि व्याकरण ये किसी मत संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है ये वेद को मानता है इतना ठीक है लेकिन ये किसी जाति से जुड़ा हुआ हो किसी देश से जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं ये तो भाषा का विज्ञान है और संस्कृत भाषा चूंकि वर्तमान के भारतीय धर्मों से या तो कहो हिंदू धर्म से वैदिक धर्म से जुड़ी हुई है इसलिए उससे लगता है कि उसकी बात कर रहा है नहीं तो ये तो सर्व हो इसी तरह से वेद उपनिषद ये किसी मत संप्रदाय धर्म विशेष की बात नहीं करते ये तो सब मानव मात्र के लिए है इसको वैदिक धर्म भी वेद से संबंधित है इसलिए कहते हैं नहीं तो ये मत संप्रदाय नहीं है इनमें जो बातें हैं वो मानव मात्र के लिए हैं यद्यपि ये बात और भी लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म मत संप्रदाय मानव मात्र के लिए है लेकिन सब मानव मात्र के लिए नहीं है उनके ग्रंथ देख लीजिए उनके उपदेश देख लीजिए वर्ग विशेष के लिए वो होते हैं लेकिन आप वैदिक परंपरा के इन ग्रंथों को देख लीजिए ये किसी वर्ग विशेष देश विशेष के लिए उपदेश नहीं है ये मानव मात्र के लिए है जो भी मनुष्य है वो इन नियमों के अनुसार उसे चलना चाहिए वो उसके लिए हितकारी है आपको जानकारी हो सकती है नहीं भी हो सकती है कि वेद का संगठन सूक्त भारत के विद्यालयों में तो नहीं बोला जा सकता लेकिन जापान या कौन से उन देशों में है नहीं वो तो एक केवल मंत्रोच्चारण हुआ पाठ्यक्रम में ये मान करके कि ये तो मानव मात्र के लिए है ये किसी मत संप्रदाय के लिए नहीं नहीं है ये कुछ साल पहले की बात है ऐसा आया था इंटरनेट पे और समाचारों में भी आया था उन्होंने एक विदेशी संस्था उन्होंने इसको स्वीकार किया मानव मात्र का है ऐसी भावना है उसके अंदर और संगठन सुख से कौन इनकार कर सकता है मानव मात्र स्वीकार करेगा इसको इत्यादि तो ये आर्य समाज के लिए ग्रंथ गर्व की बात नहीं है लेकिन आर्य समाज के लिए गर्व की बात यह है कि वो इनके ठीक अर्थ प्रस्तुत करता है अन्य मत संप्रदाय भी वेद को मानते हैं लेकिन अपनी मान्यता के अनुरूप कुछ कुछ अर्थ करते हैं वेद के विपरीत मान्यताओं को भी रखते हैं वेद को स्वीकार करते हुए भी मान्यताओं को भिन्न रखते हैं जबकि आर्य समाज या कहो महर्षि दयानंद का जोर क्या है वेद के अनुरूप जो है वो स्वीकार्य है विपरीत है वो स्वीकार्य नहीं है बाकी और किसी ने कुछ कहा हो किसी ऋषि ने कहा हो किसी ने कहा हो वो वेद के विपरीत जाता है तो वो मान्य नहीं है ये अंतर है आगे प्रश्न तो इनका अब है प्रश्न है आक्षेप है कि आर्य समाज के विद्वान आचार्य आदि शब्दों को बहुत पकड़ते हैं ठीक है शब्दों को बहुत पकड़ते हैं ये भी वैसे एक दृष्टि से गुण है पर इनका भाव दूसरा है आगे बताएंगे कि जिस कारण से ये दोष बनेगा तो आचार्य आदि विद्वान आचार्य आदि शब्दों को बहुत पकड़ते हैं कहते हैं यह शब्द वाक्य बोलने से इसका अभिप्राय यह आता है आदि आदि अर्थात इसका यही अभिप्राय है दूसरा नहीं है शब्दों को बहुत पकड़ते हैं ठीक है पकड़ते हैं दूसरा इसी में आगे इसी प्रक्रिया अर्थात शब्दों को पकड़ना आदि को लेकर ऋषि दयानंद जी व आज भी अन्य आचार्य विद्वान प्रवक्ता जो ऋषि दयानंद जी के अनुसार चलते हैं अन्य संप्रदाय का खंडन करते हैं व वेदानुकूल बातों का मंडन करते हैं ठीक है करते हैं ये भी दोष नहीं है <laughs> ठीक है गुण है अब दोष बनेगा ये और वो भावना अभिप्राय को मुख्य नहीं मानते जिनके कारण ये पता नहीं क्या लिखा है जिनके कारण लोढ़ा या लोड़ा जिनके कारण मैंने सुना भी प्रमाण भी दे सकता हूं कि आर्य समाज तो नास्तिक है ऐसा कहते हैं लोग लोग शब्द है यहाँ कि और वो भावना अभिप्राय को मुख्य नहीं मानते जिसके कारण लोग कोष्टक में मैंने सुना भी है प्रमाण भी दे सकता हूं कोष्टक बंद जिनके कारण लोग आर्य समाज कहते हैं कि आर्य समाज तो नास्तिक है आर्य समाजी सच्चे शिव अर्थात सच्चे ईश्वर का मार्ग बताते बताते नास्तिक का, का नास्तिकता का कलंक लगा बैठा उनके लिए यह बहुत शर्मनाक बात है कि जो सच्चे शिव का ढिंडोरा पीटता रहता है उनकी छवि अधिकांश जनता में नास्तिकता की छवि है दोषा क्या आर्य समाजी विद्वान शब्दों को वाक्यों को पकड़ते हैं लेकिन अभिप्राय को भावना को नहीं पकड़ते नहीं समझते और इसलिए वो नास्तिकता का कलंक लगा बैठे आर्य समाजी जब शब्दों को वाक्यों को पकड़ते हैं तो केवल शब्द और वाक्य ही बोलते रहते हैं उसका अर्थ भी बताते हैं आर्य समाजी विद्वान अर्थ अभिप्राय छोड़ करके शब्द और वाक्यों को पकड़ते हैं या उसके सहित शब्द और वाक्यों को पकड़ते हैं और दूसरे दूसरे अर्थ और अभिप्राय को छोड़ करके वेद मंत्रों और को पकड़ते हैं या उसके सहित पकड़ते हैं बताओ उनको बोलने तो ये उनका प्रश्न है बोलो दूसरे दूसरे मैंने एक बात रखी आपने क्या प्रस्तुति दी कि आर्य समाज विद्वान शब्द और वाक्यों को बहुत पकड़ते हैं पकड़ते हैं लेकिन भावना और अभिप्राय को नहीं पकड़ते अर्थ को नहीं पकड़ते मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि वेद मंत्रों के अर्थों को पकड़ना कौन ज्यादा करता है हम केवल शब्दों को पकड़ते हैं या उसका अभिप्राय करते हैं दूसरे हैं अधिकांश आपको ऐसे मिलेंगे कुछ थोड़े मंत्रों को छोड़ दीजिए बाकी मंत्र को याद करेंगे पूरी संहिता याद करेंगे जीवन भर बोलते रहेंगे सुनाते रहेंगे अर्थ क्या है उस सब में नहीं जाते या नगण्य पाए जाते कोई कोई जाता नहीं तो प्रभाव यह है कि नहीं जाते जबकि हमारे यहाँ पर मंत्र बोला जाता है एक मंत्र का अर्थ भी हम स्वाध्याय भी करते हैं अर्थ सहित करते हैं उसके उसके प्रवचन होते हैं हमारे यहां पर वहां आपको सुनने को नहीं मिलेंगे लोगों को कहीं जगह विद्वान जाते हैं बोले वेद की कथा है बोले जी ये कौन सी कथा आ गई वेद की कथा <laughs> बोले भागवत की कथा सुनी है <laughs> रामायण की कथा और कथाएं तो सुनी है वेद की कथा क्या होती है तो हम पहली बार सुन रहे हैं तरह तरह की कथाएं होती रहती हैं बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वेद की कथा तो अर समझ करते है आर्य समाज पे जो नास्तिकता का कलंक लगा है है उसका कारण क्या है उसका कारण केवल शब्दों को पकड़ना है या कुछ और है आर्य समाजी तो अपने को नास्तिक नहीं समझता बिल्कुल भी नहीं समझता हुँ? हम्म? दूसरे नास्तिक समझते हैं उनकी मान्यता में आस्तिकता की क्या परिभाषा क्या लक्षण आस्तिक कहते किसको हैं जो आर्य समाज को नास्तिक कहते हैं उनकी आस्तिकता की परिभाषा क्या है लक्षण क्या है सुरेंद्र जी आस्तिकता की परिभाषा क्या है ईश्वर में विश्वास करना तो क्या उन्हें यह लगता है कि आर्य समाज ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं आर्य समाज की किसी भी छवि इधर सिक्के का कोई भी पहलू पलट के देख लो उलट उलट के देख लो आर्य समाज को कहीं से ईश्वर अविश्वास वाली बात आती है क्या फिर नास्तिकता का कलंक कैसे लग गया आप बताओ जो ये आरोप लगाते हैं कि नास्तिकता है हाँ उनकी आस्तिकता झूठी है नहीं ये मत बोलो अभी आस्तिकता है क्या आस्तिकता का तो मतलब मंदिर जाना पूजा पाठ करना इन्होंने बात रखी ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है ईश्वर को जो नहीं मानता है परिभाषा तो ठीक है लेकिन ईश्वर है क्या उन्होंने किसको ईश्वर मान रखा है उन्होंने जिसको ईश्वर मान रखा है उसको आर्य समाज नहीं मानता है सीधी सी बात है ठीक है इसलिए उनकी दृष्टि में नास्तिक है आर्य समाज पे नास्तिकता के कलंक का मुख्य कारण ये है अब ये अलग बात है कि वो ईश्वर है या नहीं है वो जिसको ईश्वर मानते हैं उसको हम नहीं मानते सीधी बात है इसलिए उनकी दृष्टि में हम नास्तिक हैं लेकिन ईश्वर का कौन सा स्वरूप है वो तो अलग बात है तो यदि कोई आर्य समाज पे ये कलंक लगाता है इसमें आर्य समाज अपने आप में कारण नहीं है इसमें आर्य समाज दोषी नहीं है चाहे वो शब्दों को पकड़ता है वो आप दोष मान भी लो उसको शब्दों में पकड़ने को पर इस कलंक के लिए आर्य समाज उत्तरदायी नहीं है हाँ आर्य समाज की कुछ मान्यता आर्य समाजियों का व्यवहार इस नास्तिकता में कारण तो है लेकिन इस कलंक में वो उत्तरदायी नहीं है कारण तो बनते ही है कि भाई वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो दूसरा कहेगा कि नास्तिक है हमारा मूर्ति पूजा को न मानना उनके द्वारा आर्य समाज को नास्तिकता नास्तिक कहने में कारण बन रहा है ना पर ये वैसा कारण नहीं है कि जो आर्य समाज उत्तरदायी हो इसके लिए कि आर्य समाज में कोई दोष था इसलिए ये कलंक लगा उत्तरदायी वो है आर्य समाज बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है और आर्य समाज ऐसा नास्तिक तो नहीं है जो मंदिरों को जाके तोड़ता है ऐसे भी तो नास्तिक हैं ऐसे भी तो मत संप्रदाय वाले हैं आर्य समाज के प्रवक्ता लोग बहुत इस बात को बोलते हैं कहीं अपवाद हो तो अलग बात है नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता कि आर्य समाज ने मंदिरों को तोड़ा हो जा करके ये अतिरिक्त बात है कि उसने रक्षा भले ही की है जबकि उनके सिद्धांत के अनुकूल नहीं है वो सामूहिक हित की भावना देखते हुए मुसलमान या और जो हिंदुओं के लिए करते हैं उस सामाजिक दायित्व को मान करके ये उन्होंने अपने सिद्धांत के विपरीत भी कार्य किया है लेकिन आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन यानी वाणी से शब्दों से करता है क्योंकि वो शब्दों को पकड़ता है ठीक है वो लाठी और तलवार को पकड़ करके और हथौड़े को लेकर के तोड़ने नहीं जाता है उसको वो दूसरे करते हैं ऐसा तो आर्य समाज उस दृष्टि से नहीं चला है और उसका ये दोष भी नहीं है और आर्य समाज को अपने इस मार्ग पर चलते हुए ये क्या ऐसे सैकड़ों कलंक लगे तो लगे लग, लगा लो इससे आर्य समाज कलंकित नहीं होता लगाने वाले लगाते रहेंगे आर्य समाज तो ऐसा ही चलेगा उसको तो सत्य बताना ही है आर्य समाज को अछूत बना दिया अस्पृश्य बना दिया ठीक है आर्य समाज ही तो अलग बिल्कुल आर्य समाज की संस्था में नहीं ये तो हिंदू धर्म के नाशक हैं अब हमें किसी ने अस्पृश्य बना दिया तो उनका दोष है हम तो अस्पृश्य नहीं है हम तो अछूत नहीं है हम तो गंदे नहीं है कि वो हमें गंदा मान ले उन्हें गंदे लग सकते हैं तो ये शब्दों को पकड़ने का दोष नहीं है और आर्य समाज सत्य तक इसी कारण से पहुंचता है इसी कारण से टिका हुआ है क्योंकि वो शब्दों को पकड़ता है क्योंकि वो शब्द प्रमाण को महत्व देता है बहुत महत्व देता है दूसरे उतना महत्व नहीं देते शब्द प्रमाण को उनके लिए शब्द प्रमाण और पुस्तकें पूजा आदर की चीज हो सकती है केवल उतने इसमें लेकिन आर्य समाज उनकी बातों को वाक्यों को महत्व देता है उन पर ध्यान देता है उसके लिए आर्य समाज के गुरुकुल लगे हुए हैं बहुत लोग लगे हैं इस विद्या के प्रचार प्रसार रक्षा के लिए आगे चलो लेकिन एक दोष अभी ये इनका है कि वो भावना अभिप्राय को ध्यान नहीं देता जिसके लिए उदाहरण दे रहे हैं आगे मुख्य बात कबीर का खंडन जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए आदि ऋषि दयानंद जी कहते हैं ईश्वर और गुरु में ईश्वर बड़ा है लेकिन कबीर ने गुरु को बड़ा माना यह गलत है ठीक है तो ये महर्षि दयानंद ने कहा वो गलत कहा या सही कहा इनका कहना है कि महर्षि दयानंद ने पृष्ठभूमि जैसी है वैसी कि शब्दों को पकड़ लिया भाई कबीरदास जी का अभिप्राय क्या था वो समझना चाहिए कबीरदास जी गुरु की महत्ता को बताना चाह रहे हैं वो कोई ईश्वर को न्यून थोड़ ना कर रहे हैं ठीक है ना और इस भाव को महर्षि दयानंद समझ लेते तो खंडन नहीं करते ठीक है जो भाव आपने समझ लिया है यही मतलब <laughs> यही तो मतलब है ना कि कबीरदास जी का खंडन महर्षि दयानंद और समझ वाले करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो शब्दों और वाक्यों को पकड़ते हैं और शब्दों को क्या पकड़ लिया हे ये तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा ईश्वर से ऊंचा मानते हैं ईश्वर से ऊंचा कैसे होता है इस शब्दों में मत जाओ कबीर जी की भावना को समझो भावना क्या थी कबीरदास जी की क्या भावना थी क्या भावना थी कबीरदास जी की आप बताओ कबीरदास जी की क्या भावना थी हम्म। अतिशयोक्ति में भावना में बह जाता है ठीक है बहता है आदमी तो बहना चाहिए या खड़े रहना चाहिए बहना ठीक है या नहीं है दूसरा उन्होंने तो चलो भावना में बोल दिया अब उनके मानने वालों को वही भावना समझनी चाहिए थी या शब्दों को पकड़ना चाहिए था उनके मानने वालों ने क्या किया भावना को पकड़ा या शब्दों को पकड़ा शब्दों को पकड़ करके ईश्वर से ज्यादा गुरु को पूज्य मान लिया तो चलो कबीरदास जी ने तो जो भावना से कहा आपकी बात मान ली लेकिन उनके मानने वाले जो अभी तक चल रहे हैं उन्होंने भाव या अभिप्राय को पकड़ा जो भाव अभिप्राय आप पकड़ रहे हैं उस भाव अभिप्राय को पकड़ा उन्होंने किसको पकड़ा शब्दों को पकड़ा तो जब कोई मत संप्रदाय शब्दों को पकड़ करके चल रहा हो तो उसका निषेध कैसे करेंगे भाव को समझ के या शब्दों को ही पकड़ा करते हैं अभिप्राय बताएंगे वो शब्दों को पकड़ के गलत चल चल पड़े गलत अर्थ लेने लगे और आज भी ये होता है कितने व्यक्ति अपने को ईश्वर से भी बड़ा या स्वयं को ईश्वर प्रस्तुत करते हैं और लोग बाग उनकी पूजा वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे ईश्वर की करने लगते हैं उस समय भी होता था आज भी हो रहा है और जब बाद में स्थिति बनती है तब क्या होता है जिसे ईश्वर माना था उसके क्रियाकलाप बाद में पता लगते हैं जैसा अभी आजकल चल रहा है तब आज उस बात का कितना कितना गलत अर्थ निकल रहा है आज देखो एक व्यक्ति विशेष दो व्यक्ति विशेष के कारण से अनेक भी हैं लेकिन साधु समाज के प्रति क्या भावना लोगों की बन गई क्या संकेत दे रहे हैं बताओ आए दिन कुछ कल ये कल वो कल वो आप लोगों को तो पूरा पता भी नहीं है यहां बैठे हैं बाकी को पता है जो बाहर देखते हैं सुनते हैं क्या निकलेगा अंत में क्या निर्णय होगा जाएगी लेकिन जो बातें आ रही हैं जिस तरह से बार बार बार बार ये वो वो वो वो प्रतिमा लगा करके सामने रख करके पूजा करते हैं उपासना करते हैं उनकी करते थे लोग आज भी करते हैं आज भी वो मानने को ही तैयार नहीं है ये ईश्वर का कितना बड़ा अपमान है महर्षि दयानंद को ये स्वीकार्य नहीं था गुरु और ईश्वर की क्या तुलना है गुरु बहुत बड़े होते हैं माना उसके उनके आदर का मना नहीं है लेकिन ईश्वर की तुलना में गुरु क्या है कुछ भी नहीं नगण्य ज्ञान की दृष्टि से उपकार की दृष्टि से निष्कामता की दृष्टि से किसी भी दृष्टि से देख लो कुछ भी नहीं है और उसको ईश्वर से बड़ा मान लिया जाए ये महर्षि को स्वीकार्य नहीं था तो उसका महर्षि खंडन करते हैं और आर्य समाज भी खंडन करता है उसको गलत मानता है इसलिए ये शब्दों को पकड़ करके कोई दोष नहीं कर रहा है यार समाज वो ठीक प्रस्तुति दे रहा है लोगों को दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया पौराणिक का खंडन क्या खंडन करते हैं इन्होंने एक वाक्य लिखा मूर्ति पूजा से बुद्धि जड़ हो जाती है महर्षि ने लिखा अब ये भी शब्द और वाक्य को पकड़ करके या तो भाव को ना समझ करके खंडन किया है ऐसा अभिप्राय है अब इनके मन में वितर्क भी हैं कुछ चीजें प्रश्न हैं तर्क हैं कि बुद्धि जड़ हो जाती है इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं अब बात यह आती है कि आप लोग तो खुद कहते हैं कि मन और बुद्धि जड़ है तो जी आप बुद्धि को जड़ कहते हो नहीं कहते हो कहते हो तो यू कह रहे मूर्ति पूजा से बुद्धि जड़ हो जाती है क्या पहले चेतन थी जो जड़ हो गई है अब आप लोग खुद मन और बुद्धि को जड़ी तो कहते हो तो ये तो मूर्ति पूजा से जो हुआ बुद्धि का जड़ होना तो जड़ जड़ ही तो रहेगा उसे मूर्ति पूजा ने क्या हानि कर दी है बुद्धि की मूर्ति पूजा ने बुद्धि की क्या हानि कर दी है बुद्धि तो जड़ी तो होती है आप लोग भी तो बोलते हो महर्षि के अनुयायी और मूर्ति पूजा से भी बुद्धि जड़ है तो जड़ है तो जड़ तो ठीक ही है हुँ? हम्म? ये शब्द अब <laughs> अब वो बात इन पे लागू होती है <laughs> क्योंकि आर्य समाजी <laughs> क्योंकि आर्य समाजियों के संपर्क में आ गए हैं आर्य समाजी बन गए इसलिए ये भी शब्दों को पकड़ने लग गए हैं ये इनका दोष नहीं है ये आर्य समाज की संगति का दोष है तो महर्षि ने लिखा मूर्ति पूजा से बुद्धि जड़ हो जाती है तो इन्होंने जड़ का मतलब जड़ शब्द को पकड़ लिया चलो इनकी थोड़ी और कथा सुनते हैं पहले कहते हैं अब बात यह आती है कि आप लोग तो खुद कहते हैं मन व बुद्धि जड़ होती है या यहां ऋषि दयानंद जी का अभिप्राय यह है कि आत्मा जड़ हो जाती है ये केवल शब्द पे नहीं टिके हुए हैं अभिप्राय पे जा रहे हैं कि महर्षि ने जो लिखा मूर्ति पूजा से बुद्धि जड़ हो जाती है तो बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं आत्मा आत्मा जड़ हो जाती है ऐसा महर्षि का अभिप्राय था लेकिन यह संभव नहीं है सब जानते हैं समझे बात को भाई अगर आप अभिप्राय लेते हो <laughs> बुद्धि जड़ हो जाती है बुद्धि का मतलब है यहाँ पर आत्मा ऐसा अभिप्राय ले लो तो आत्मा तो जड़ हो ही नहीं सकती अब महर्षि का ये कथन कि बुद्धि जड़ हो जाती है मतलब आत्मा जड़ हो जाती है तो वो तो जड़ हो ही नहीं सकती है वो तो नित्य चेतन है तो ये भी महर्षि का कथन गलत हो जाएगा आगे कहते हैं आत्मा को छोड़ के शरीर में सभी जड़ है आत्मा को छोड़ के सभी जड़ है यानी मन बुद्धि भी अब सवाल उठता है कि ऋषि दयानंद जी शरीर को जड़ क्यों कहेंगे जबकि वो जड़ है अर्थात आत्मा को, को तो जड़ कह नहीं सकते कि आत्मा जड़ हो जाएगी बुद्धि जड़ हो जाएगी मतलब वो तो चेतन ही रहेगी तो फिर और बुद्धि तो वैसे भी जड़ है तो शरीर को भी वो जड़ क्यों कहेंगे कि मूर्ति पूजा से शरीर जड़ हो जाता है ऐसा अर्थ वो क्यों लेंगे महर्षि दयानंद तो सवाल उठता है कि ऋषि दयानंद जी शरीर को जड़ क्यों कहेंगे जबकि वो जड़ है अर्थात कभी कोई कह, यह कहता है कि सफेद दूध लेकर आओ तो दूध तो सफेद ही होता है शरीर जड़ हो जाता है बुद्धि जड़ हो जाती है तो उसको विशेषण लगाने की क्या जरूरत है वो तो जड़ ही है तो यह हमें कहा क्यों कहा कि मूर्ति पूजा से मन बुद्धि जड़ होती है ये महर्षि ने क्यों कहा हमारे को वो तो पहले से जड़ है या उनका यह कहने का था कि आत्मा जड़ हो जाएगी यह भी नहीं हो सकता आवृत्ति कर रहे या उनका अभिप्राय यह था कि सोचने की शक्ति सीमित हो जाएगी जड़ हो जाएगी अभी प्रश्न उठाया इन्होंने क्या उनका अभिप्राय यह था कि सोचने की शक्ति सीमित हो जाएगी जड़ हो जाएगी दोष अगर ऐसी बात है तो आर्य समाज जो सच्चे ईश्वर का स्वरूप जानता है लेकिन उनकी बुद्धि तो अधिक जड़ दिखाई देती है मतलब अब जड़ का इनका अर्थ है कि विचार सोचने की शक्ति सीमित हो जाती है तो आर्य समाजियों की सोचने की शक्ति कम है ऐसा इनको इनको प्रतीत हो रहा है तो अगर ऐसी बात है तो आर्य समाज जो सच्चे ईश्वर का स्वरूप जानता है लेकिन उनकी बुद्धि तो अधिक जड़ दिखाई देती है तो शब्दों के बाहर ही नहीं निकलते वो भाई आर्य समाजियों की बुद्धि जड़ है इसमें प्रमाण भी तो दे रहे हैं क्या प्रमाण है क्योंकि वो शब्दों से बाहर ही नहीं निकलते तो शब्दों से बाहर ही नहीं निकलते उनमें पौराणिकों की तरह शुद्ध भक्ति भाव नहीं है पौराणिकों की तरह शुद्ध भक्ति भाव नहीं है ठीक है पाश्चात्य लोगों की तरह घोर पुरुषार्थ भी नहीं है अगर है तो सिर्फ और सिर्फ शब्द देखो दो स्थिति है जिसे आप शुद्ध भक्ति भाव कह रहे हो वो शुद्ध है या नहीं है ये विचारना पड़ेगा आर्य समाजियों में भक्ति भाव कम है माना सब में नहीं है उनकी तरह से आप कह रहे हो भक्ति भाव कम है उनका भक्ति भाव शुद्ध है अशुद्ध है हैं? क्या है शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है वो बताओ शुद्धता क्या शुद्धता क्या भाव का भक्ति भाव का मतलब क्या और शुद्धता का मतलब क्या है भक्ति भाव और शुद्धता का मतलब क्या बताओ तो ऐसे जवाब देता है वो खंडन नहीं कर रहा है

कि अन्य मत संप्रदाय वाले यदि परस्पर एक दूसरे को बोलते हैं तो वो तीव्र खंडन नहीं करते हैं चुप रहते हैं और उसको ईश्वर पे छोड़ देते हैं ठीक है एक अंश में वो बात आपकी ठीक है मान लेते हैं आर्य समाजी सत्य के प्रति बहुत आग्रही होता है उचित या अनुचित मतलब सही या गलत उसको कोई बात ठीक नहीं लग रही है उसकी मिथ्या धारणा भी हो सकती है तो उसका विरोध करने की सामर्थ्य आर्य समाजी में बहुत होती है वो प्रतिक्रिया करता है विरोध करता है चुप नहीं बैठता है अन्याय का मिथ्यावाद का विरोध करने की भावना उसके से लड़ने की भावना उसको दूर हटाने की भावना आर्य समाज में बहुत होती है दूसरों में क्या होता है कि गलत है अरे ठीक है ना होगा उसका छोड़ो बात को होगा उसका अपना होगा ठीक है उसकी मान्यता है ये छोड़ने की बात जो ज्यादा रहती है ठीक है विदेशी आक्रमण कर रहे हैं करने दो ना भगवान देख ही लेगा आप जिस भाषा में बोल रहे हो हम क्यों द्वेष करें भगवान अपने आप न्याय कर देगा ईश्वर भक्ति ये बात छोटी सी आप आपस में तो चलो ठीक है हम अपने होते हैं तो प्रेम भाव से बोलना चाहिए मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं लेकिन जो सूत्र आप उनकी शुद्ध भक्ति भाव का दे रहे हो उससे ये देश गुलाम हुआ है बहुत इन्होंने अपनी भयंकर हानि की है आज भी भुगत रहे हैं परमात्मा पे छोड़ने के कारण ये आपका कहना है कि वो भले ही गलत भक्ति भाव है लेकिन भाव तो है ये भयंकर हानिकारक तत्व है इसका समर्थन इसका निषेध करते हुए मैं आपसी जो संघर्ष आर्य समाजी विद्वानों में या व्यक्तियों में होता है मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं वो जो यहां त्रुटि है वो है मानता हूं मैं वो यहां नहीं होनी चाहिए लेकिन वो चीज जो है वो बहुत घातक है सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना ईश्वर ने हमारे पे भी तो कुछ छोड़ा है ईश्वर ने हमारे पे छोड़ा है ना हम ईश्वर पे छोड़ रहे हैं तो ईश्वर ने किस पे छोड़ा है हमारे पे छोड़ा है ना कुछ बातों को तो उसे हम क्या वापस ईश्वर पे छोड़ दें या हमें करना चाहिए हमें करना चाहिए और जिसे आप शुद्धता कह रहे हो दो गिलासों ठीक है इसमें दूध 250 ग्राम दूध और 50 ग्राम पानी अशुद्ध है ना ये दूसरे में 250 ग्राम पानी और 50 ग्राम दूध किसमें जल शुद्ध है जल किसमें शुद्ध है आपको जल की शुद्धता देखनी है या दूध की शुद्धता देखनी है हम्म? मैं शुद्ध जल की जगह पे अशुद्ध जल ले लेता हूं दूध में पानी डालते हैं तो झोड़ का वैसे ही तालाब का डाल देते हैं ना पानी जिसमें सब गंदगी होती है पशु भी जाते हैं सब कुछ काम होते हैं उसमें क्योंकि वो पानी गाढ़ा होता है सादा पानी डालेंगे शुद्ध जल तो दूध पतला हो जाएगा ज्यादा उसमें थोड़ी मिट्टी भी मिली हुई रहती है गदला गदला पानी रहता है गाढ़ा रहता है थोड़ा सा तो दूध पतला नहीं होता है उतना पतला नहीं दिखता है पानी डाल दो तो एक में 250 ग्राम जोड़ का पानी नाली का पानी और 50 ग्राम दूध और दूसरे में 250 ग्राम दूध और 50 ग्राम पानी किसमें पानी शुद्ध है दूध का तो उत्तर दे हो गया आपके दूध जिसमें ज्यादा है वो शुद्ध है इनकी दृष्टि वो है वहां इतना विपरीत है ईश्वर के प्रति एक भक्ति भाव है वो थोड़ा सा शुद्ध है पचास ग्राम दूध है बस बाकी ढाई सौ ग्राम गंदगी है आप उसको जल को शुद्ध देख रहे हो वहां इधर का जल अशुद्ध है ना कितनी अशुद्धि है इधर के जल में 50 ग्राम जल और 250 ग्राम दूध कितना अशुद्ध कर दिया जल को कितने प्रतिशत अशुद्ध किया 50 ग्राम में 50 ग्राम 50 ग्राम पानी 50 ग्राम दूध डाल करके जल को अशुद्ध किया तो कितना गुना पानी किया अशुद्धि कितनी है शत प्रतिशत अशुद्धि है पचास पचास हो तो और 250 हो तो 500 प्रतिशत जल कितना अशुद्ध है तो 500 प्रतिशत अशुद्धि डाल रखी है और यहां का जल कितना है कितने प्रतिशत अशुद्ध है 250 में 50 ग्राम कितने प्रतिशत बनेगा 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत तो आपको वो शुद्ध जल अच्छा लगता है तो ठीक है हम तो दूध की शुद्धता अशुद्धता देख रहे हैं दूध की शुद्धता अशुद्धता देख रहे हैं हम आप पानी की शुद्धता अशुद्धता देख रहे हैं भारत में किसकी नदियां बहती थी पानी की है दोनों बहती थी तो कोई कहता है कि भारत वो देश है जहां पानी की नदियां बहती थी बोलता है कोई घी दूध की नदियां बहती थी आप पानी से दूध को कम नहीं कर सकते दूध अधिक अच्छा है तो वहां जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें हैं हैं और वो आनी चाहिए हमारे में उसका निषेध नहीं है लेकिन इस आधार पर उसका खंडन करना तो अगर है तो सिर्फ और सिर्फ शब्द क्या आपको यहां ऐसा लगता है कि केवल शब्द ही शब्द है तो क्या ये आर्य समाज नहीं है क्या ये आर्य समाज की संस्था नहीं है ठीक है कम है तो हमारे को बड़ा बनाना है ना हमें इसे फैलाना है क्या यहां जो पढ़ाते हैं वो आर्य समाज के नहीं है आर्य समाज ही है ये एक व्यंग एक व्यंग है ठीक है व्यंग कर लो आर्य समाज में शब्दों का ईश्वर शब्दों का जीव बिना शब्दों के आर्य समाज की कोई नहीं है नीव <laughs> आर्य समाज में शब्दों का है ईश्वर शब्दों का जीव बिना शब्दों के आर्य समाज की कोई नहीं है नीव या हमें ऋषि दयानंद जी का सही अभिप्राय समझना पड़ेगा अगर ऐसा है तो ठीक है ऐसा ही है हमें महर्षि दयानंद का ठीक अभिप्राय समझना पड़ेगा हम महर्षि दयानंद से जितने इधर उधर जा रहे हैं उतने गलत हैं उससे आर्य समाज के व्यक्ति तो गलत होते हैं आर्य समाज के व्यक्ति तो गलत होते हैं लेकिन महर्षि दयानंद और आर्य समाज गलत नहीं होता संस्था अपने आप में मूलतः गलत नहीं है आपके और मेरे जैसे हैं इसलिए ये गलत है आगे अभिप्राय भावार्थ प्रयोजन शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं अर्थात शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता जो आर्य समाजों ने पकड़ रखा है भावार्थ अभिप्राय प्रयोजन शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं क्योंकि व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे और बाद में कह दे मेरा तो भाव नहीं था जो भाव आपने कहा ये क्या लिखा है आपने आपने समझा जो भाव आपने समझा वो मेरा तात्पर्य भाव था ही नहीं मेरा तो यह भाव था मेरा भाव तो शुद्ध था मुझे तो हंसी आती है वैसे तो आर्य समाज शब्द पर जोर देता है और अगर कोई न समझ पाए तो गलत अर्थ निकलते तो कहते हैं आत्मा आ, भावों भावनाओं को समझो तो यानी आर्य समाजी ये बोलते हैं ना भावनाओं को समझो तो भावनाओं को तो पकड़ते हैं फिर आप खुद ही कह रहे हो फिर इनका कहना है कि वैसे तो शब्दों को पकड़ते हैं लेकिन यूं कभी अवसर आता है तो कहें कि नहीं मेरे भाव को पकड़ो शब्दों को मत पकड़ो तो अब आगे वैसे एक और अलग प्रश्न है इनका हुँ? हम्म? क्या जड़ बुद्धि है पर इन्होंने खुद ने स्वीकार किया वैसे आर्य समाजी जड़ बुद्धि नहीं है इसीलिए वो दस बातें सोचता है और उतना नहीं सोचता है जितना विचार जितना विचार आप यहां सुन रहे हो ना ऐसे ऐसे खुले ढंग से ऐसा आपको दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलेगा जितने खुलेपन से बात होती है पूरा कुछ भी आप पूछो करो चर्चा करो बहुत जगह तो प्रश्न पूछने के लिए कोई अवसर ही नहीं होता है नगण्य होता है अथवा कहीं कहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ चर्चाएं भी होती हैं वो भी ठीक है पर जो आपकी प्रवृत्ति है क्या क्यों कैसे को जानने की इसकी पूर्ति आपको और कहीं नहीं हो सकती ऐसा आपने नहीं देखा हो तो जाकर के घूम करके देख लो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा इतना आप यहां क्या क्यों कैसे कितने पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ उत्तर आता जाएगा आता जाएगा आपके अधिकांश प्रश्नों के संतुष्टिजनक उत्तर आ जाएंगे सब तो नहीं हो सकते नहीं होते कई बार होते नहीं है कई बार समझ में नहीं आते दोनों बातें होती हैं लेकिन अधिकांश प्रश्नों के उत्तर क्या क्यों कैसे के मिलते हैं यहां पर यहां तो दर्शनों की शैली ही ऐसी है सारी दृष्टि ही वैसी है और ये प्रक्रिया बिना विचार के नहीं हो सकती जो आप कह रहे हो ना कि विचार यहां नहीं है जड़ है ये बिना विचार के नहीं होती है बहुत ज्यादा विचार होता है पुस्तकें अन्य मत संप्रदाय की अपेक्षा आर्य समाजी अधिक पढ़ते हैं अधिक खरीदते हैं पुस्तकें छपती हैं विविध बहुत पुस्तकें छपती हैं तरह तरह की संख्याओं को आप देखो मात्रा में नहीं मात्रा में तो उनकी बहुत बिकती हैं लेकिन प्रकार जो हैं वो आर्य समाज के बहुत हैं बहुत बहुत बहुत साहित्य है आर्य समाज का विविध साहित्य है चलो एक इनका आध्यात्मिक प्रश्न है ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है यह कथन प्राय सुनने को मिलता है लेकिन ईश्वर तो इंद्रियों से रहित है हम कैसे देखते सुनते जानते हैं हम इंद्रियों से जानते हैं नए दर्शन का भी प्रमाण है इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इंद्रिय से ही तो जानते हैं और परमात्मा की इंद्रिय है नहीं दोष तो ईश्वर कैसे देख सुन जान रहा है बिना इंद्रिय के तो जान नहीं सकता अर्थात ईश्वर देख सुन जान नहीं रहा है अब इन्होंने कोष्टक में लिखा है यहां आप यह नहीं कह सकते कि यहां यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर देख सुन जान रहा है मतलब ये अभिप्राय नहीं है क्योंकि आर्य समाजी को तो अभिप्राय पकड़ना नहीं है <laughs> शब्द ही पकड़ के रखो आपको तो शब्द ही पकड़ना है अभिप्राय का तो क्षेत्र आपका नहीं है तो आप यहाँ यह नहीं कह सकते कि यहाँ यह अभिप्राय नहीं है इसका यह प्रयोजन नहीं है जो आप समझ रहे हैं चलो ऐसा नहीं कहते क्योंकि आर्य समाज के पास उच्च कोटि का व्याकरण है जो दुनिया में अन्य संप्रदाय के पास नहीं है ऐसा नहीं है उनके पास भी है पहले ही मैंने बोला जितने और संप्रदाय हैं मत संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आते हैं उनके पास भी है ये व्याकरण वो शब्दों को अतिशयोक्ति करके इस्तेमाल उपयोग करें जिससे गलत अर्थ निकलता है इनका अभिप्राय यह है कि जब आपके पास व्याकरण है तो अतिशयोक्ति क्यों कर रहे हो कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है आप कहोगे नहीं अभिप्राय तो है नहीं क्योंकि देख सुन जान रहा तो सत्य सिद्ध हो नहीं सकता क्योंकि ईश्वर के पास इंद्रिया नहीं है लेकिन आप कह रहे हो कि ईश्वर देख सुन जान रहा है तो आपका वचन कब सत्य सिद्ध हो सकता है जब आप यूं कहो कि नहीं इसका अभिप्राय वास्तव में ये नहीं है देख सुन जान रहा है उसका अभिप्राय कुछ और है तो बोले अगर आप ऐसे अभिप्राय बदलोगे तो आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपके पास तो पाणिनी व्याकरण है आप क्यों अतिशोक्ति आपको जो कहना है वो आप कह सकते हो ना बिना अतिशयोक्ति के भी तो क्यों ऐसी असंभव बातें बोल रहे हो जब है ही नहीं तो ये अपनी कल्पना में है क्योंकि आर्य समाज के पास उच्च कोटि का व्याकरण है जो दुनिया में के अन्य संप्रदाय के पास नहीं है वो शब्दों को अतिशयोक्ति करके इस्तेमाल प्रयोग करें जिससे गलत अर्थ निकलता है जो आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध करे तो आर्य समाज व अन्य संप्रदाय में क्या अंतर हुआ क्या मतलब हुआ जो आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध करे हाँ और स्वयं ही मतलब विरुद्ध बातें कहते हैं तो फिर अन्य मत संप्रदायों में और आर्य समाज में क्या अंतर रहा तो आप ये मान रहे हो कि अन्य संप्रदाय बोलते जिस चीज को बोलते हैं उसी का विपरीत भी खंडन करते रहते हैं अन्य संप्रदाय वाले और वो तो सच्ची श्रद्धा भक्ति वाले हैं तो आर्य समाज और अन्य संप्रदायों में क्या अंतर हुआ यहाँ एक ही जवाब आ सकता है कि भावार्थ अभिप्राय समझें भावार्थ नहीं यहां तो हम शब्द को ही पकड़ेंगे नहीं <laughs> ईश्वर देख सुन जान रहा है हम तो शब्दों को ही पकड़ेंगे अब क्योंकि हमारे पे बिल्ला तो लगी चुका है कि वही शब्दों को पकड़ते <laughs> ठीक है अब इन्होंने सवाल आगे किया है तो आर्य समाज पौराणिक मूर्ति पूजा पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग अन्य संप्रदाय के अभिप्राय को क्यों नहीं समझते क्यों कबीर के भाव को नहीं मानते क्यों गुरु नानक की बात को नहीं मानते वहां वो यह कहेंगे कि भावना जिसकी चाहे पवित्र हो कार्य गलत है बात गलत है तो वो गलत ही मानी जाएगी लेकिन यह नियम आर्य समाज पर लागू नहीं होता क्यों जानने के लिए परमात्मा को इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं है एक तो उत्तर यह है कि परमात्मा के पास इंद्रियां नहीं है इनका यह पाएगा कि यदि परमात्मा के पास इंद्रियां नहीं है तो वो कैसे देख सुन जान रहा है ठीक है देख सुन जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता किसको होती है इंद्रियां जो हैं वो क्या है करण है साधन है उपकरण है उपकरणों की सहायता कब होती है उपकरणों की सहायता आवश्यकता कब होती है जब शरीर है शरीर है अब मुझे अपनी बात सुनने के लिए मेरे कान की जरूरत है हाँ कर रहे मेरे को अपनी बात सुनने के लिए क्यों क्योंकि हमें पता है अंदर ही है हमारे हमारे अंदर ही है इसलिए हमें काम की जरूरत नहीं है लेकिन दूसरा कोई बोले तो हमें कान की आवश्यकता है क्यों क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं इसीलिए ना वहां दूर कोई चीज रखी हुई है अंदर नाली में अब मैं यू हाथ डाल नहीं सकता पकड़ नहीं सकता तो क्या करते हैं चिमटा या कुछ उससे यूं करते कि हम नहीं पहुंच सकते तो साधन की आवश्यकता है और यदि वहीं पर ही पहुंचे हुए हो तो कोई आवश्यकता नहीं मैं व्रत मुनि जी का उदाहरण दू वो मेरे को बचपन में बोलते रहते थे कई चीजों के लिए ये चीजें बोलते थे कि कोयले को उठाने के लिए अंगारे को जल रहा है किसकी जरूरत है चिमटे की और चिमटे को उठाने के लिए हाथ की और हाथ को उठाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए एक और यंत्र चाहिए नहीं ना क्योंकि ये तो हमारा है हाथ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दूर का जो होता है उसको अंगारे को उठाने के लिए चिमटे की जरूरत है लेकिन अपने हाथ को उठाने के लिए चिमटे की जरूरत नहीं है यदि ठीक है तो, तो जहां हम होते हैं उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता नहीं होती परमात्मा चूंकि सर्वत्र विद्यमान है सर्वव्यापक है इसलिए उसको साधनों की आवश्यकता नहीं होती इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती उसकी अपनी सामर्थ्य है और वो सर्वव्यापक है इसलिए सब कुछ देखता सुनता जानता है ठीक है शब्दों को ही पकड़ेंगे हमने तो शब्दों को पकड़ लिया लेकिन आपने भाव को समझ लिया हमारे हमारे भाव को समझ लिया बिना भाव को बताए भी भाव को समझ लिया था कई हाँ बोलो जिस मतलब तरह से फिर भी हम अपना भावना समझा रहे हम दूसरों का खंडन ना करके कि यहाँ पे इस बात का ये अभिप्राय था तो वहाँ पे वो उनका खंडन भी समझेंगे कि हमने उनका खंडन किया है लेकिन वहाँ पे उस बात का कि वो हमारा समर्थन क्यों सीधा वो खंडन करते वो ना हमारे में आते हैं ना अपनी बात पाते ऐसा कर सकते हैं कुछ अंशों में चलता है ऐसा हमारे एक प्रवक्ता थे आप में से कुछ लोग जानते हैं वो शिव जी की व्याख्या किया करते थे शिव जी की गणेश जी की है शिव जी की करते थे शिव का सच्चा स्वरूप गंगा बह रही है सर्प है नीलकंठ है उसके क्या सच्चा स्वरूप क्या है क्यों वो कहा गया वो प्रस्तुत करते थे अगर हम उस ढंग से प्रस्तुत करें कई जने आप देखते होंगे आजकल ये भी एक पद्धति है मान लो महर्षि दयानंद के लिए ही बोलेंगे मुक्ति से पुनरावृत्ति का महर्षि ने लिखा और वो कहते हैं कि मुक्ति से तो पुनरावृत्ति होती ही नहीं है बोले आर्य समाजियों ने महर्षि के अभिप्राय को ही नहीं समझा अब वो हमारे को अभिप्राय समझा रहे हैं जैसे आपकी शैली है ना उस तरह से तब आर्य समाजियों से विरोध भी नहीं हो इसलिए वो क्या शैली अपनाते हैं बोले महर्षि का जो मोक्ष था वो वो अंतिम मोक्ष नहीं ये तो स्वर्ग के लिए है ये जो मोक्ष है ये तो स्वर्ग का कथन है कि स्वर्ग से वापस लौट के आते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं महर्षि के सच्चे अभिप्राय को समझो इसका मतलब अभी जो मानने वाले हैं वो महर्षि के अभिप्राय को नहीं समझते वो आर्य समाजी उस व्यक्ति के वक्ता के अभिप्राय को समझते हैं ये क्या कह रहा है वो महर्षि की पुष्टि कर रहा है आर्य समाजियों का खंडन कर रहा है ये ऐसा कह करके महर्षि के अभिप्राय को गलत सिद्ध कर रहा है ना आर्य समाजी मानेंगे उसको वो प्रस्तुति क्या दे रहा है दोबारा बोलो जटिल हो गई बात मुक्ति से पुनरावृत्ति का महर्षि दयानंद कहते हैं बहुत स्पष्ट और वो दूसरे लोग मानते नहीं है ये वास्तव में ऐसा बोला जाता है वो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको हाँ स्वर्ग से पुनरावृत्ति तो मानते हैं वो कि पुण्य के कारण स्वर्ग में चले गए और फिर लौट आए अब वो महर्षि दयानंद को गलत भी नहीं बताना चाहते क्योंकि वो अभिप्राय को समझने वाले व्यक्ति हैं शब्दों को पकड़ने वाले नहीं है महर्षि के शब्द भले ही हो कि मुक्ति से नहीं लौटता है लेकिन वो शब्द को नहीं पकड़ेंगे वो महर्षि के भाव को समझेंगे क्या भाव कि ये जो लौटना है ये तो स्वर्ग से ही होता है मुक्ति से तो लौटना होता ही नहीं है तो महर्षि का अभिप्राय क्या था स्वर्ग से लौटते हैं अब तक वो खंडन भी नहीं कर रहे और अभिप्राय समझा रहे हैं विरोध ना हो ताकि हम भी उन्हीं से मिल जाएं आपने कहा ना कि ऐसा अभिप्राय समझाएं जिससे कि वो हमारे से विपरीत भी नहीं हो वो हमारे साथ भी आ जाए और उनको सही अर्थ भी बता दें अब ये व्यक्ति हमारे को सही अर्थ बता रहा है आर्य समाज को आर्य समाजियों को स्वीकार कर लेंगे सोमदेव जी ये देखो कितनी कितनी <laughs> कितनी <laughs> भाई वो अभिप्राय को समझने वाला व्यक्ति है वो महर्षि का अभिप्राय समझा रहा है हमारे को ऐसा कहने वाले का भाव भी दूसरे समझते हैं कि ये हमारे को मूर्ख समझ रहा है अपने को बुद्धिमान समझ रहा है आप बड़े बड़े सेमिनार में ऐसे बहुत लोग होते हैं फला वचन है उसका गलत अर्थ है नहीं इनका अभिप्राय ये नहीं हो सकता इनका अभिप्राय ये था क्योंकि उस महापुरुष पे वो दोष नहीं देना चाहते कहते हैं तो बाद के लोगों ने ऐसा कर दिया और उदाहरण दू आपको महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया महात्मा बुद्ध तो बहुत ऊंचे थे वो वेदों का खंडन कर ही नहीं सकते वेदों का खंडन नहीं कर सके तो बाद के लोगों ने ऐसा कर दिया बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते थे लोगों ने नहीं समझा और वो हमारे को प्रसन्न कर रहा है महात्मा बुद्ध का खंडन मत करो आप महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं स्वीकार किया ऐसा कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का यह अभिप्राय नहीं था महात्मा बुद्ध ने कहीं ईश्वर का निषेध नहीं किया कोई पूछने गया कि भाई ईश्वर है या नहीं है तो उसको कहा कि पहले ये देखो कि तुम हिंसा का हिंसा का पालन करते हो या नहीं करते हो ईश्वर ईश्वर की छोड़ो ये दुनिया ईश्वर के चक्कर में पड़ी है और यहाँ इसको माया समझ रही है या और जो भी कह समझ रही है और हानि कर रही है अपनी ईश्वर को समझना है जब समझ लेना इसको समझो पहले छोड़ो ईश्वर को ईश्वर की बात छोड़ो अभी बोले उन्होंने तो इस ढंग से कहा था ईश्वर का खंडन थोड़ा ना किया था उन्होंने ऐसा कई जने प्रस्तुत करते हैं कि बुद्ध को गलत समझ रहे हो आप लोग बुद्ध का अभिप्राय ये नहीं था अब उनकी पुस्तक देखते हैं उनके खुद वो सत्य पठान और वो कई पुस्तकें थी इन्होंने तो वो शिविर भी किया है सत्य पठान का मैं पुस्तक एक दिन देख रहा था कि वो कहते ही हूं लेकिन उनके बुद्ध के खुद के जो जो उन्होंने लिख रखे हैं उनके धम्म पिटक वगैरह में जहां जहां जो चीजें आती हैं धम्म पद में और जो वचन आते हैं जो उन लोगों ने छाप रखे उन्हीं की पुस्तकों में जो छपा हुआ है उसमें साफ साफ इस तरह से निषेध है केवल ये नहीं है समझाने का कि नहीं महात्मा बुद्ध तो विरोध नहीं करते थे भी उनके ग्रंथ बोल रहे हैं जो वो मानते हैं उनके मानने वाले जो चल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं लेकिन एक शैली है परस्पर सामंजस्य की विरोध न होने की भी उनका तात्पर्य ये था महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया महर्षि के तात्पर्य को आर्य समाजियों ने नहीं समझा महर्षि तो ये कहना चाह रहे थे कि इस पे हमेशा मत लगे रहो इससे ऊपर उठ करके उस परमात्मा पे जाओ आर्य समाजी इसी का ही मूर्ति पूजा का ही बिल्कुल खंडन करने लग गए महर्षि को समझा ही नहीं आर्य समाजियों ने अगर महर्षि ऐसा होते तो बाद में माला क्यों डालते वहां पर जयपुर के अंदर वैष्णवों का समर्थन क्यों करते अगर महर्षि दयानंद मूर्ति पूजा के खंडक होते भंजक होते तो समर्थन किया ना उन्होंने जयपुर में वैष्णवों का किया था शैवों का किया था शैव और वैष्णव का शैव का किया था आर्य समाजियों ने महर्षि दयानंद को समझा नहीं है महर्षि दयानंद स्वयं ने शैव का समर्थन किया है महर्षि दयानंद स्वयं मंदिरों में रुकते थे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में औरों में बहुत जगह रुकते थे महर्षि दयानंद को ठीक समझो मानेंगे हाँ कर रहे नहीं महर्षि दयानंद को सही समझाने की शैली बता रहा हूं आपको जो आप जिस शैली से आप चल रहे हो ऐसा कोई समझाए कि महर्षि दयानंद को आपने समझा ही नहीं है वो सामंजस्य करने वाले तभी तो मेल होगा ना इससे मूर्ति पूजा भी करने को समर्थन हो गया महर्षि दयानंद का और आगे के लिए भी हो गया तो वो भी वही बात कह रहे थे जो आप ये और कह रहे हैं कोई महर्षि दयानंद विरोध थोड़ा ना कर रहे थे ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि महर्षि दयानंद के वचन स्पष्ट मिलते हैं इन लोगों के व्यवहार और ये सब मिलते हैं वो खड़ाओं को पूजा करवाते हैं जड़ वस्तु को पूजा करवाते हैं गुरु तो फिर भी चलो ठीक है जीवित है और उसकी पूजा सत्कार किया जाता है किया जा सकता है करना चाहिए तो खड़ाऊ रखवाते हैं और चीजें रखवाते हैं वस्त्र रखवाते हैं बाल रखवाते हैं उस सब की पूजा पाठ करते हैं बहुत सारी चीजें हैं तो वो चीजें उनका अभिप्राय उनके व्यवहार को देखते हुए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते अब ये आर्य समाजियों की मजबूरी है आर्य समाजियों की मजबूरी है कि वो शब्द को नहीं छोड़ सकते और आपकी भी नाक कट चुकी है <laughs> किसके दर्शन होते हैं नाक के कटने पे नारायण <laughs> सत्यास्त्र प्रकाश वाली जो कहानी है तो बोले नारायण के दर्शन क्यों नहीं हो रहे पढ़ रखी है कथा बोले नाक आड़ में आ रही है इसलिए <laughs> नाक कटवा दोगे तो दर्शन हो जाएंगे और जिसकी भी नाक कट गई वो कह के दर्शन तो नहीं हुए बोले नाक तो आएगी नहीं बोल दो दर्शन हो रहे हैं बेज्जती तो नहीं होगी <laughs> तो आप भी शब्दों को पकड़ चुके हो आप भी हमारे जैसे ही बन जाओ तब तो ठीक <laughs> चलो इतना रखते कुछ पूछना है किसी को हाँ एकाग्रता के लिए ठीक है लगा लगाओ ना एकाग्रता के लिए तो लगाओ नहीं नहीं नहीं सीधा खंडन वो ठीक है वो एक शैली हो सकती है ऐसा करते हैं बहुत से लोग लेकिन आर्य समाज की दिक्कत यह है कि वो शब्दों को पकड़े हुए है इसलिए वो शुद्धता को चाहता है वो आधा वो और आधा वो करके कहने में उसको कष्ट होता है हम ये कह करके कर लेंगे कि चलो एकाग्रता होती है पर वो तो भगवान मान के बैठा है उसको वो केवल एकाग्रता के लिए थोड़ा तो ना कर रहा है एकाग्रता के लिए कर रहे होते तो कर लेते वो अलग बात थी उसको वो परमात्मा मानता है उससे वो एकदेशी परमात्मा को मानता है सर्वव्यापक नहीं मानता है वो परमात्मा का अपमान है बहुत बड़ा अपमान है महर्षि ने तो बड़े कठोर शब्द लिखे हैं परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है मूर्खता है ये पाप है तो केवल ये कह करके ऊपर ऊपर से पकोल दें उसको यूं ही मिट्टी थोड़ी सी बुरक दें यूं ही तो ऊपर ऊपर से ठीक कर दें उससे नहीं लिपा पोती से काम नहीं चलेगा वो तो गलत कर रहा है आपको बताना तो पड़ेगा ठीक है बोलो और दूसरे जो महापुरुष लोग आते हैं उनकी कुछ सही बातें जो वेदों के हमारे सिद्धांतों में विपरीत नहीं है उनका विरोध करना क्या ठीक है नहीं है उनका किस बात का विरोध करते हैं बताओ नहीं ऐसा अक्सर नहीं तो नहीं हाँ। ऐसा ऐसा किसने कहा बताओ मैसी मैसीदाने ने तो ऐसा नहीं कहा कि सारा गलत है लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा चूंकि उसमें गलत भी है इसलिए आपकी समझ तो है नहीं प्रमाण तो जानते नहीं हो तो आपके गलत भी चिपट जाएगा इसलिए जब शुद्ध मिल रहा है तो उसको सीधे शुद्ध को ले लो अशुद्ध में से छाटोगे करोगे आपका समझ तो है नहीं लेकिन उसको सारा अशुद्ध है ऐसा तो महर्षि ने नहीं कहा महर्षि ने तो वो प्रमाण भी दिया है उसको नए युवक को कि आप धर्म का स्वरूप क्या है बोले आप सब जगह चले जाओ और जिसमें कोई विरोध नहीं हो वो धर्म का स्वरूप है यानी दूसरे भी तो अच्छा बता रहे हैं ये स्वीकार कर रहे हैं ना जैनियों के प्रकरण में लिखा कि जैनी लोग अन्य मत संप्रदाय वालों को सबको गलत समझते हैं अन्य मत संप्रदायों में जो अच्छे लोग हैं उनको भी ठीक नहीं समझते इसका मतलब महर्षि ये मानते हैं कि अन्य मत संप्रदाय में भी अच्छे लोग होते हैं धार्मिक लोग होते हैं ठीक है कुछ मान्यताएं गलत भी होती हैं तो ऐसा तो आर्य समझ नहीं कहता कि सारा गलत है ऐसा तो नहीं कहता जो उनकी अच्छी बातें हैं वो ठीक है अच्छी हैं कौन मना करता है अच्छा बताओ मेरे को आपकी अनुभव में मैं, तो वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे मेरी जानकारी में कोई ऐसा जो ये कहे कि सब कुछ गलत है अक्सर बहुत महाराज साहब के बहुत सारे विचार हमारे सुनाए हमने कि आपने कबीर जी का नाम भी नहीं लिया तो गलत होते हो कि स्वामी जी ने कबीर जी का विरोध किया था इसलिए विरोध हुए क्योंकि स्वामी जी ने महात्मा बुद्ध का विरोध कर दिया इसलिए महात्मा बुद्ध की सारी बातें गलत नहीं ऐसा कौन कहता है मेरे को तो देखो पता नहीं अब मैं कहीं अलग थलग किसी दुनिया में हूं तो हाँ मेरा संकेत ये कबीर के होने की तो अच्छा हम्म। हाँ तो, अच्छा तो ये तो अलग बात हो गई ना आप अब अब अब भाव ले रहे हैं ये शब्द को पकड़ रहे हैं नहीं नहीं इनकी बात कर रहा हूं जैसे इनका ये अभिप्राय नहीं है इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि कबीरदास जी सारे गलत हैं अभी हमारी चर्चा किस बात पे चल रही है कि क्या आर्य समाज का कोई विद्वान उसको पूरा गलत मानता है नहीं इन्होंने ऐसा ही कहा था मेरे को भी ध्यान है कि भाई इसकी जगह आप वेद मंत्र लेते तो अधिक अच्छा था अच्छा इन्होंने क्या ये कहा था आपने जो दोहा बोला ये सिद्धांत विरुद्ध है ये गलत है उसका विचार गलत है ऐसा तो नहीं कहा था ना ये कहा था कि इसकी जगह आप मंत्र बोलते तो अच्छा रहता उनको क्यों प्रयोग किया जाए जब हमारे पास ईश्वर की वाणी है जब हमारे पास ईश्वर की वाणी है तो क्यों ना हम उसको बोले बोल सकते हैं तो हाँ जो व्यक्ति नहीं जानता वो है आप तो संस्कृत में एम है आप मंत्र बोल सकते हैं कर सकते हैं उन्होंने अपना एक ये अभिप्राय लिखा लेकिन ये बात नहीं थी जो हमारा विषय चल रहा है कि सारे के सारे वो गलत हैं किसने कहा बताओ ऐसा और आप नाम बताओ ऐसा कोई कहता है क्या आप सब गलत मान ठीक है लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे ना कि वहाँ सारा गलत है ऐसा कौन श्रुति दर्ज अच्छा हाँ। है हाँ ये क्या क्या आप ऐसा ऐसा कह रहे ऐसा ही है आपका मान लो कोई ऐसा कहे इन दोनों ने वो एक जो बात कही है कि भाई वैसे तो वहां गलत है और जो अच्छा भी है वो भी वेदादि शास्त्रों से गया हुआ है ठीक है इसका ये तो अर्थ नहीं है कि वहां उनके ग्रंथ या उनके महापुरुषों ने जो कहा है वो सारा का सारा यानी शत प्रतिशत गलत है ऐसा तो नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि उनको मत पढ़ो ये तो बोलेंगे क्योंकि विश्व मिश्रित अन्न की तरह वहां गलत भी है सही भी है तो गलत चिपट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा इस रूप में यानी हो सकता है किसी विद्वान ने बोला हो और आपने सुना हो मेरी जानकारी में तो मैंने ऐसा मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है हम्म। तो तो वो ठीक है वो ठीक है आप ये अलग बात है ये अलग बात है ठीक है तो बहुत समय हो गया हाँ माता जी हाँ मूर्ति पूजा का खंडन किया बहुत जबरदस्त इसलिए आजकल कबीर के दोहे भी हटाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम से सांप्रदायिक कबीर को भी सांप्रदायिक क्या करते हैं आजकल ऐसा चल रहा है अभी तक पढ़े जाते थे पाठ्यक्रम में और वो क्या कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए ये पढ़ा जाता था अभी तक अब इसका भी विरोध हो रहा है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है कबीर को भी सांप्रदायिक माना यह क्योंकि इसमें सीधी चोट है हिंदू धर्म पे भी है तो या तो मूर्ति पूजा पे भी है तो इसके ऊपर भी है दोनों पे सीधी चोट है अब कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं ये तो रहना चाहिए लेकिन दूसरों को लगता है ये तो हमारा हमारा बच्चा वहां जा रहा है और हमारे मत संप्रदाय के लिए ऐसा किया जा रहा है तो हटाए हटा भी दिए गए मेरे को जहां तक जानकारी है कुछ चीजें हटा भी दी गई हैं ऐसी ऐसी हटा दी गई हैं और कहीं थोड़ी चल रही होंगी तो चल रही होंगी तो ये तो समर्थक है अब वो जो चक्की वाला है उसको तो हटाने का नहीं कहेंगे उसको वो तो मुसलमानों के विपरीत नहीं वो तो मुसलमानों के अनुकूल है लेकिन ये बांग वाला ये मुसलमानों के विपरीत है और हिंदू समझेगा ये बांग वाला तो अच्छा है ठीक है और ये मूर्ति पूजा वाला गलत है और आर्य समाजी समझेगा दोनों ही ठीक है आर्य समाज ने कभी इन दो दोहों का खंडन किया क्या आप महर्षि के खंडन देखो वहां पर कईयों के बिल्कुल छोटे छोटे से लिख रखे हैं एक दो बात के नानक जी का बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ है बाकी नहीं अभिप्राय तो अच्छा था कबीर जी का थोड़ा सा लिखा है कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे ये सब था इससे तो पढ़े लिखों का संपर्क ज्यादा अच्छा है क्योंकि कम पढ़ा लिखा गलती कर सकता है लेकिन क्या इन दोहों का जो कबीरदास जी के हैं या उनके नाम से कहे जाते हैं खंडन करता है आर्य समाज नहीं करता आर्य समाज तो खुद वही बात बोलता है तो आर्य समाज सबका खंडन नहीं करता है ठीक है तो अभी इतना रखते हैं बहुत समय हो गया